अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि दयाकर भी इंस्पेक्टर अशोकन के साथ मिला हुआ था लेकिन नहीं नहीं अशोकन भला अपने साथी को कैसे मार सकता है लेकिन कहीं दयाकर की मौत तो नहीं हो चुकी है कहीं दयाकर इस केस का पहला विक्टिम तो नहीं है कहीं उसी ने तो पहले निरूपा के बारे में नहीं लिखा था एक साथ हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए एक के बाद एक करके कई सवाल दाग दिए इस वक्त हर्षित बहुत नर्वस होकर विक्रांत की तरफ देख रहा था अर्शद काफी असहज महसूस कर रहा था समंता ने बताया था कि फिल्म डायरेक्टर रविचंद्रन ने ही दयाकर को रिकमेंड किया था लेकिन अगर उसका कोई फिल्म बैकग्राउंड नहीं था तो फिर रविचंद्रन उसे क्यों रिकमेंड करेगा विक्रांत ने हैरत जताते हुए कहा साथ ही इस वक्त उसके दिमाग में और भी कई सारी चीजें आ रही थी पक्का दयाकर ने ये रोल पाने के लिए पैसे का घूस दिया होगा लेकिन क्यों वो घूस क्यों देगा इतनी बोरिंग फिल्म में रोल पाने के लिए भला कोई क्यों घुस देगा इस रोल में तो ज्यादा एक्टिंग भी नहीं करनी थी उसे सर एक मिनट आराम से हर्षित ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा आपका मतलब दयाकर फिल्म क्रू के लोगों के बीच में निरूपा के अफेयर का पता लगाने की कोशिश कर रहा था अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि दयाकर निरूपा से बदला लेने के लिए उसकी सारी सच्चाई सामने लाना चाहता था आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है क्या नहीं विक्रांत ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा देखो निरूपा का कहना है कि दया का सेल्फिश आदमी है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो उसने ये सब निरूपा के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए किया था लेकिन उससे उससे क्या फायदा होगा हर्षित ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा जबकि विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया वो बड़े ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखता रहा ओ अब समझा मैं इसके बारे में भी पता लगाता हूँ इतना कहते हुए हर्षित ने तुरंत ही कीबोर्ड पर उंगली चलाना शुरू कर दिया कुछ ही पल में उसे दया करके कॉल व्हाट्सएप और मेल आदि का डिटेल मिल गया जब एक बार टारगेट का पता चल जाता है तो फिर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आधे से भी एफर्ट करना पड़ता है ऐसे में मात्र 10 मिनट के भीतर ही उन लोगों को दया करके सारे प्लेटफॉर्म के मैसेज रिकॉर्ड का पता चल गया ओ ये तो बहुत जल्दी हो गया मुझे तो लगा था कि ये सब करने में बहुत टाइम लगेगा अश्वित ने पहले विक्रांत की तरफ हैरत भरी नजरों से देखा और फिर उस सिग्नल की तरफ देखने लगा जो इंस्पेक्टर अशोकन को ट्रैक कर रहा था फिर उसने कहा सर अभी भी हमारे पास 20 मिनट का टाइम है 20 मिनट में इंस्पेक्टर अशोकन यहाँ पहुँच जाएंगे अच्छा सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है विक्रांत ने हर्षित से कहा सबसे पहले तो तुम हर्ष को बोलो कि कोयम्बतूर से निकलने के बाद वो सीधे अनुष्का का साथ पकड़े और फिर अनुष्का को लेकर वो दया के घर पहुँचे दया के घर पहुंचकर वो लोग उसकी माँ से मिले और उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करें अगर उसकी माँ ने इस बात से इनकार कर दिया कि उसका नाम बासु लहरी नहीं है हमारे पास तो डीएनए भी नहीं है अर्षित उतना कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहा था हम्म, उसकी माँ को ये सब एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है अभी तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे बॉस की एबिलिटी क्या है विक्रांत ने कॉन्फिडेंट होते हुए कहा वो आ रहा है हर्षित अपनी सीट से खड़ा हो गया और फिर नर्वस होकर कहने लगा सर आप वो स्पीड बोर्ड देखिए अब हमें प्लान शुरू कर देना चाहिए तुम पहले खुद को देखो विक्रांत ने उसे फटकारते हुए कहा अच्छा अशोकन बहुत शातिर है वो तुरंत तुम्हें नोटिस कर लेगा और उसे सब पता चल जाएगा उसके लिए ये सब बहुत आसान काम है लेकिन जब तक हमें यहाँ पर प्रोफेसर चौटाला हर्ष और अनुष्का की तरफ से फाइनल रिपोर्ट नहीं मिल जाती है तब तक हमें उसे कुछ भी पता नहीं लगने देना है और हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से हैं और हमें इस तरह से नर्वस नहीं होना है कि सामने वाले को बिना कुछ बताए ही सब कुछ पता चल जाए ओ ओके हर्षित ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर चिंता का भाव साफ देखा जा सकता था मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि इंस्पेक्टर अशोकन बहुत चलाक आदमी है हो सकता है कि हम उसे बेवकूफ बना ही ना पाए वो देखते ही सब समझ जाएगा तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है विक्रांत ने कहा अगर वो हमारे जाल में नहीं फंसा तो फिर इसके पीछे सिर्फ दो ही कारण हो सकते हैं पहला तो ये कि उसे हमारा प्लान समझ में आ गया होगा और वो बड़ी चालाकी से बिहेव करेगा या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है कि वर्कला बीच पर हुए मर्डर केस का उससे कुछ लेना देना नहीं है ऐसे में हर्षित हमारे पास कुछ खोने के लिए नहीं है हाँ वो तो है फिर चलो हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हर्षित ने अपना सिर हिलाते हुए और विक्रांत की तारीफ करते हुए कहा चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए विक्रांत ने समंदर की तरफ देखते हुए कहा जितना मुझे पता है मेरे एक्सपीरियंस से हमारे पास अशोकन के खिलाफ इतने सारे एविडेंस हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो इस मामले में इनोसेंट है जैसे विक्रांत ने बात कही इंस्पेक्टर अशोकन अपने स्पीड बोर्ड से वहां पहुंच गया इंस्पेक्टर अशोकन के साथ ही वहां कुछ और पुलिस वाले भी उसके साथ ही यहाँ पर आए हुए थे उन लोगों ने अपने साथ में लंच बॉक्स भी ले रखा था हालांकि अशोकन का पहनावा काफी अजीब था लेकिन आज विक्रांत को उसका चेहरा और भी अजीब सा दिख रहा था उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने अजीब से कपड़े पहनने वाला और इतना बेपरवाह सा दिखने वाला आदमी भीतर से इतना शात्र भी हो सकता है ये किसी का खून भी कर सकता है हालांकि विक्रांत ने अपने मन के भाव को चेहरे पर नहीं आने दिया जब उसने अशोकन को खुद की तरफ आते देखा तो फिर भागता हुआ उससे मिलने के लिए चला गया विक्रांत ने मुस्कुराते हुए अशोकन से हाथ मिलाया और फिर उसने कहा अशोकन जी कैसे हैं और वो मछली मार्केट की लड़ाई वाला मैटर कैसा चल रहा है अरे वो सब खत्म हो गया है अशोकन ने थोड़ी जल्दबाजी दिखाते हुए कहा पी के साहब उधर था ना मेरा साथ उन्होंने ही मैटर सॉल्व कर दिया विक्रांत ने फिर इस तरह का दिखावा करने की कोशिश शुरू कर दी कि उसे अशोकन की बहुत फिक्र है विक्रांत ने अशोकन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा अच्छा अब हम लोग अच्छे दोस्त हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह के मैटर को कैसे सॉल्व किया जाता है एक्चुअली ऐसे लोगों से निपटने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि इन लोगों को लाइन में खड़ा करके एक एक के हाथ और पैर तोड़ के रख दो ताकि आगे कभी ये लोग किसी से भी लड़ाई करने की हालत में ना रहे विक्रांत का मजाकिया लहजा सुनने के बाद इंस्पेक्टर अशोकन समेत बाकी के पुलिस वाले भी उसकी तरफ अजीब सी नजरों से देखने लगे आज तक उन लोगों ने किसी भी इतने सीनियर पुलिस वाले से इतनी कैजुअली इन लोगों से बात नहीं की थी ऐसे में उन, उनकी नजरों में विक्रांत की इज्जत बढ़ गई अरे मैंने बताया था ना आपको पी के साहब ने ये मैटर ऑलरेडी सुलझा लिया है इंस्पेक्टर अशोका ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा लेकिन सर आप लोगों की टेक्निक से केस थोड़ी ना सॉल्व कर सकते हैं अभी हम लोगों ने किसी को ज्यादा पीट दिया तो इधर बवाल मच जाएगी सब लोग चिल्लाने लगेगा इंस्पेक्टर अशोकन के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया था उस पर ठहरने के बाद उन्होंने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा अच्छा सर वो पीके साहब ने आप लोगों के लिए लंच भेजी है ये आप लोग खा लीजिए वो सर बोली है कि लंच जल्दी कर लीजिए नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी ठंडी हो जाएगी विक्रांत ने अशोकन की नकल करते हुए कहा ताकि वो अशोकन को बिल्कुल कंफर्ट जोन में ला सके